बादशाह और कंगाल बहुत अरसा पहले जब बादशाह हेनरी आठ लंदन पर हुकूमत करते थे एक अजीब वाक्य हुआ दो लड़कों की पैदाइश हुई एक ही दिन एक ही वक्त एक पैदा हुआ एक महल में और इस तरह वो शहजादा बन गया दूसरे की पैदाइश एक मुफलिस घराने में हुई और इस तरह से वो मुफलिस इंसान बन गया इस मुफलिस इंसान का घर महल से कुछ ही दूरी पर था उन दिनों बहुत ही अफसोसनाक हालात थे एक तरफ जहां शहजादे एडवर्ड को आला खाना और लिबास हासिल था पर उस मुफलिस को जिसका नाम था टॉम उसे एक वक्त खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती और उसे चिथड़ों के अलावा कुछ और नसीब नहीं था जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए एक और इतफाक सामने आने वाला था ये दो लड़के इंतहा ही एक जैसे दिखते थे टॉम तुम निकम्मे लड़के तुम आज मेरे लिए कुछ नहीं लाए अब्बा मैं भीख नहीं मांगना चाहता कोई भीख मांगना चाहता है क्या अहमक कहीं के अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो हम खाएंगे क्या अगर तुम्हारा यही रवैया है तो तुम्हें एक महल में पैदा होना चाहिए था तुम एक कंगाल के घर क्यों पैदा हुए पर इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पैदा होना है ओ बकवास बंद करो तुम ना शुक्रगुजार लड़के दफा हो जाओ और मेरे लिए पैसे लेकर आओ टॉम की जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छी बात थी और वे थे प्रोफेसर एंड्रूज जो करीब ही एक स्कूल में पढ़ाते थे वो हर हफ्ते अपने साथ मुख्तलिफ किताबें लाते और टॉम की हौसला अफजाई करते कि वो पढ़े किताबें इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होती हैं। वो किसी भी हालत में तुम्हारी रहनुमाई करती हैं। मुझे इल्म है कि जिंदगी तुम्हारे लिए कितनी दुश्वार है नहीं आप ये इल्म नहीं किसी को ये इल्म नहीं मुझे बताएं प्रोफेसर मेरी पैदाइश महल में क्यों नहीं हुई मैं जिंदगी भर कंगाल नहीं बना रहना चाहता ये नाइंसाफी है किसने कहा कि तुम्हें कंगाल बने रहना होगा सिर्फ इसलिए कि तुम एक कंगाल घर में पैदा हुए पर क्या ये हकीकत नहीं है कि एक मुफलिस की औलाद मुफलिस होती है और बादशाह की औलाद शहजादा या फिर शहजादी पर जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं हम कुछ और बनने का इंतखाब कर सकते हैं दरअसल हम जो बनना चाहें हम उसका इंतखाब कर सकते हैं इस बात का मुझे जवाब दो अगर मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखूं कि या तो तुम मुफलिस बनो या लालची और बेईमान शख्स बनो तो तुम क्या बनना पसंद करोगे अगर दूसरा इंतखाब ये है कि मुझे एक बेईमान शख्स बनना पड़ेगा तो मेरे लिए बेहतर होगा मैं मुफलिस ही बना रहूं और ईमानदार रहूं बिल्कुल अब देखा तुमने तुम हमेशा इंतखाब कर सकते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पैदाइश एक महल में हुई है या झोपड़ी में एक और ईमानदार बनने में हिम्मत लगती है टॉम और मैं जानता हूँ तुम में वो हिम्मत है मुझे तुम पर यकीन है शुक्रिया एक दिन टॉम खाने की तलाश में दूर निकल आया कुछ मील चलने के बाद वो महल पहुंच गया वो अपने सामने एक लंबी और ऊंची इमारत देखकर हैरत में पड़ गया वो उसके गिर्द गया और उसे करीब से देखने के लिए झाड़ियों में से उसने छुपकर देखा उसने शहजादे एडवर्ड को अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा ये जरूर शहजादा ही होगा काश कि मैं भी ऐसी शाही जिंदगी जी सकता हे, इधर आओ मैले कुचेले इस अहाते में आने की तुम्हारी जरूरत कैसी हुई चलो इसे महल से बाहर फेंकते हैं जैसे ही पहरेदारों ने टॉम को बाहर फेंकने के लिए उठाया शहजादा एडवर्ड दौड़ता हुआ बाहर आया ये सब शोर शराबा क्यों हो रहा है ये लड़का महल में घुसने की कोशिश कर रहा था तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम है टॉम कैंटे मैं माफी का तलबगार हूँ हुजूर मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था मैं तो बस आपकी खिड़की से झांक रहा था हालांकि वो बहुत गंदे कपड़े पहने हुए था टॉम तो ने बहुत इज्जतदार तरीके से बात की शहजादा उस लड़के के बाबत और जानने की ख्वाहिश से बेताब हो उठा वो टॉम को अपने कमरे में ले गया और उसे खाना और मिठाइयाँ पेश की टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हकीकत में एक महल में खड़ा है आप बहुत खुश नसीब है काश की मैं भी एक शहजादा होता क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है टॉम हमारी शक्ल और सूरत एक जैसी है वो ही गोल नाक घुंघराले बाल बड़ी आंखें मैंने इस पर तो तवज्जो नहीं दी थी लेकिन एक बहुत ही अहम बात ये है जो हम मुख्तलिफ जगहों से आते हैं इस सल्तनत में इसी बात की अहमियत है कि आप इतने कीमती लिबास पहनते हैं और मैं चिथड़े पहनता हूँ आपके पहरेदारों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया आपने देखा उन्हें परवाह नहीं किया आप और मैं एक जैसे लगते हैं किसी को कोई परवाह नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रुको क्यों ना हम अपने कपड़े बदल ले और हर एक को आजमाएं इसमें लुत्फ आएगा मैं यकीन से नहीं कह सकता इतना मत सोचो टॉम अब हम दोस्त हैं और उन्होंने ऐसा ही किया टॉम और एडवर्ड खुद को आईने में देखकर हैरत में पड़ गए वाह हम एक से लगते हैं पर ये सब एक ख्वाब है अब हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए जल्दी क्या है मुझे अपने पहरेदारों का इम्तिहान लेने दो मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा एक कंगाल का भेष बनाकर और तुम यहाँ रुकना और शहजादा एडवर्ड होने का दिखावा करना लेकिन क्या क्या होगा अगर फिक्र मत करो टॉम सब ठीक हो जाएगा मैं अब चलता हूँ बाहर जाते वक्त शहजादे ने अपनी अलमारी से कुछ उठाया और उसे अपने गंदे कपड़ों में छुपा लिया और वो फिर महल के बाहरी फाटक तक पैदल चलकर गया पहरेदारों ने उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी टॉम सही कह रहा था वो बस इसी की परवाह करते हैं कि मैं क्या पहनता हूँ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं एडवर्ड फाटक के पास गया और फिर मुड़ा अंदर जाने के लिए पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया रुको बहुत हो गया अब हम तुम्हें अपने शहजादे के आसपास और नहीं रहने देंगे दफा हो जाओ इतमान रखो मैं शहजादा एडवर्ड हूँ और मैं बादशाह हूँ क्या नहीं तुम नहीं हो चाहे उसने कितनी भी गुजारिश की कोई फर्क नहीं पड़ा पहरेदारों को यकीन नहीं आया उन्होंने शहजादे को बाहर फेंक दिया अरे अरे ये सफर आसान नहीं होने वाला अब मैं कहाँ जाऊँ शहजादा महल से दूर चलता गया और बदकिस्मती से टॉम के बाप ने उसे ढूंढ लिया निकम्मे लड़के कहाँ चले गए थे मुझे बहुत भूख लगी है जाओ जाकर खाना ले आओ कभी किसी ने एडवर्ड से इस तरह से गुफ्तगु नहीं की थी खौफ जदा और कश्मकश में वो वहाँ से चला गया कुछ खाना लाने की तलाश में जब वो सड़क पर आगे बढ़ा शहजादा एडवर्ड वहाँ का नजारा कर हैरत में पड़ गया मेरी सल्तनत में लोग इतनी गुर्बत में है ये नाकाबिले यकीन है हम हर रोज महल में इतना खाना जाया करते हैं और यहाँ इनके पास इतना भी खाना नहीं कि दो जनों के खानदान को खिला सके इस दौरान टॉम ने अपने आसपास हर शख्स को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो शहजादा एडवर्ड नहीं है पर कोई सुनने को तैयार नहीं था उसके आसपास हर कोई किसी उलझन में मोतिला दिखता था क्या वो ठीक है लगता है उसे कुछ हो गया है मुझे इल्म नहीं मैंने उससे इंग्लैंड की वो अजीम मोहर मांगी थी और उसने ये कहकर मुझे जवाब दिया कि वो इसकी बाबत कुछ नहीं जानता वो शहजादा है ये उसका फर्ज है कि मोहर की हिफाजत करे उसे कैसे इसका इल्म नहीं मुझे माफ करना पर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो भूल गया हो उसी तरह जिस तरह लगता है कि भूल गया है कि वो शहजादा एडवर्ड है कोई कंगाल टॉम बॉम नहीं ओह खुदाया ये तो बहुत बुरा होगा बादशाह की सेहत बिगड़ती जा रही है और शहजादा अपनी याददाश्त खो रहा है ओ खुदा इस सल्तनत को बचाओ टॉम चाहता था कि एडवर्ड महल में जल्दी वापस आए पर साथ ही साथ वो ये भी जान गया कि उसे अपने सल्तनत को बखूबी चलाना होगा जब तक कि असली शहजादा वापस नहीं आता आखिर शहजादा एडवर्ड उसका दोस्त था और वो उसे ना उम्मीद नहीं करेगा टॉम अक्लमंद और दानिशमंद था उसने पूरी तरह अपने फर्ज संभाल लिए और जल्दी ही सब सीख लिया महल में हर कोई उस पर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करने लगा और वो अपने शहजादे को चाहने लगी वो काबिल और तालीम शुदा लड़का था वो इल्म जो उसने उन किताबों से हासिल किया था जो उसे प्रोफेसर एंड्रू ने दी थी उसने उसका बखूबी इस्तेमाल किया उसकी दानिशमंदी की तारीफ की गई उसका रवैया सबकी जानिब हलीमी और दिली का था सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन एक अफसोसनाक हादसा न हो गया बादशाह हेनरी आठ का इंतकाल हो गया महल में बादशाह के लिए मातम छा गया <sighs> मुझे बहुत अफसोस है आपके इस नुकसान के लिए लेकिन अब वक्त आ गया है कि बादशाह बनाने के लिए आपकी ताजपोशी की जाए क्या क्या पर जल्दी क्या है इस सल्तनत के लोगों को तुम्हारी जरूरत है शहजादे और तुमने अब काफी सीख लिया है ये करना लाजमी है अब मैं ताजपोशी का इंतजाम करता हूँ टॉम को यहाँ महल में रहना पसंद था पर वो अच्छी तरह से वाकिफ था कि ये वो जिंदगी नहीं है जो उसे जीनी है वो बादशाह का ताज नहीं पहनना चाहता था उसने अपने आदमियों को बाहर सड़क पर भेजा शहजादे एडवर्ड की तलाश में पर क्योंकि पहरेदारों को पता नहीं था कि किस मुफलिस लड़के की तलाश की जाए वो हमेशा वापस आते बिना कोई खबर लाए टॉम शहजादे के लिए फिक्रमंद हो रहा था जबकि हर रात टॉम अपने पूरे दिल से इसकी तमन्ना करता कि शहजादा वापस आ जाए एडवर्ड अब एक और मुसीबत में फंस गया एक मर्तबा सड़क पर चलते हुए एडवर्ड को दो बदमाशों ने पकड़ लिया जिन्होंने उसे चोरी करने पर मजबूर किया हालांकि एडवर्ड ने असल में चोरी नहीं की थी पर उसे जेल में डाल दिया गया उस दिन उसे अदालत में ले जाया जाना था एडवर्ड तैयार था इससे भी बदतर हालात के लिए पर इतफाक ऐसी योर ऑनर एक गलती हुई है मेरे पहरेदारों ने इस लड़के को पकड़ा ये सोचकर कि ये एक चोर है पर उसने कुछ भी नहीं चुराया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे रिहा कर दें योर ऑनर एडवर्ड को रिहा कर दिया गया उसने उस रहमदिल इंसान का शुक्रिया अदा किया और उससे एक छोटी सी गुजारिश की मेरे पास एक बहुत ही अहम पैगाम है जो महल ले जाना चाहिए कल शहजादे एडवर्ड की ताजपोशी है इसलिए क्या आप मुझे फौरन महल ले जा सकते हैं उस शख्स ने एडवर्ड पर यकीन नहीं किया पर क्योंकि वो खुद ताज पोशी के जश्न में शिरकत करना चाहता था वो राजी हो गया एडवर्ड को साथ ले जाने के लिए अगले दिन महल के अंदर हर कोई इकट्ठा हुआ था अपने नए बादशाह की हमदो सना करने के लिए <clears throat> हम सब के लिए ये एक तारीखी दिन है आज हम अपने नए बादशाह की ताजपोशी करेंगे बादशाह एडवर्ड की ये बादशाह ये बादशाह हर कोई जोश और खरोश से भरा था जैसे ही ताज टॉम के सिर पर रखा जाने वाला था नहीं रुको मैं हूँ असली शहजादा एडवर्ड क्या तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने कपड़ों की तरफ देखो पहरेदारों इसे गिरफ्तार कर लो नहीं छोड़ो मुझे मुझे जाने दो पहरेदारों पीछे हट जाओ वो सच कह रहे हैं लॉर्ड सेंट जॉन वो शहजादा एडवर्ड हैं और मैं हूँ टॉम कैंटे मैंने आप सबको बताने की कोशिश की पर आपने मेरा यकीन नहीं किया ये कैसे मुमकिन है अगर अभी भी आप हमारा यकीन नहीं करते तो फिर ये लो क्या कोई इंग्लैंड की अजीम मोहर के बारे में फिक्रमंद नहीं है मैं ये अपने साथ ले गया था जब मैं महल से बाहर गया था शहजादा एडवर्ड और टॉम ने पूरा वाकया सुनाया हर कोई इसे सुनकर हैरत में पड़ गया कि उनका असली शहजादा बाहर सड़कों पर भड़क रहा था मैं मुआफी का तलबगार हूँ शहजादे मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की मेहरबानी करके अपनी जगह लें एक बादशाह के मानिंद टॉम तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तुमने वफादारी से मेरे फर्ज निभाए जब मैं बाहर था मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ मुझे गलत साबित करने और मेरा तख्त छीनने के लिए तुम झूठ बोल सकते थे बादशाह सलामत मैं एक मुफलिस का बेटा हो सकता हूँ पर एक बेईमान इंसान होने का इंतखाब नहीं कर सकता मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें जाना टॉम क्या तुम मेरे जाती सलाहकार का ओहदा कबूल करोगे इस सल्तनत को तुम्हारी जहनीत की जरूरत है मैं शुक्रगुजार होऊंगा हुजूर। जैसे ही असली शहजादे की ताज पोशी की गई इंग्लैंड के बादशाह बनने पर उसने फौरन ही कुछ अहम बदलाव किए अपनी सल्तनत के कानूनों में आसपास और गुर्बत देखकर उस पर बहुत गहरा असर हुआ था अपने पूरी हुकूमत के दौरान वो बहुत ही रहम दिल बादशाह बना रहा सल्तनत टॉम कैंटी और उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई राजा एडवर्ड और टॉम कैंटी करीबी दोस्त बने रहे अपनी बाकी जिंदगी में कहानी खत्म